दुनिया के बारे में भी और आखरत के बारे में भी और लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो कुछ हरज नहीं क्योंकि वो तुम्हारे भाई ही तो हैं और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला और अगर अल्लाह चाहता تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل